प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें प्रकरण संबंध रखता है सर्वम खलु एकदम ब्रह्म तत्वानी शांत उपासित सांडिल विद्या में उस ब्रह्म के जो तज तल तद अन ब्रह्म है उस ब्रह्म के गुण एक गुण मन को बताया था एक आकाश को बताया था उसमें अनेक गुण बताए थे जिनमें से मन को भी एक गुण गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करना मन मजा आकाश आत्मा इत्यादि कहा था वहां मन को और आकाश को एक देश रूप में लिया था या सर्वदेश समस्त रूप में लेना है मन ही ब्रह्म है बोल रहा है आकाश ही ब्रह्म है ऐसा मंत्र बोल रहा है अध्यात्म और अधिदैव दो उपासना दिखाना चाहते हैं मनोब्रह्म की उपासिता अध्यात्म उपासना और आकाश और ब्रह्म की उपासिता अधिदैव उपासना है भाष्य हो गया था टीका में आगे देखते हैं एवं उभयम उपदिष्टम भवती यदि संबंध एवं उभयम यहाँ है और आगे उपदिष्टम भवती आगे आगे संबंध ऐसा करना भाष्य में बीच में अध्यात्म अधिदेवत्म आदि बीच में है तदेव उभय विभजित वो उभय क्या उसको कहा अध्यात्म अधिदैवतम च उभयम ब्रह्मदिष्ट ब्रह्मदृष्टि विषय आदिष्टम उपदिष्टम भवती इत्यादि कहा इस प्रकार मनोभ्रमित उपासित और आकाश भ्रमित उपासित इस प्रकार दो प्रकार कहने से दोनों अध्यात्म और अधिदैव दो प्रकार के ब्रह्मदृष्टि विषय उपदेश हो जाता है आदिष्टम और उपदिष्टम बहुत ये कहा अच्छा, ठीक है कहते हैं कथम मनोदृष्टि विषयत्व अध्यात्म मनोब्रमित उपासना विदीक्षित तथा कथम मनोदृष्टि को विषय करके अध्यात्म उपासना कैसे बताई मनोब्रमित उपासित कैसे कहा यह प्रश्न है कथम के ऊपर टिप्पणी देते हैं अत्र कथम मनसो ब्रह्म दृष्टि विषय तुम ये न अध्यात्म इत्यादि ऐसा पाठ अच्छा होता है कहना चाहते हैं टीकाकार कहना चाहते हैं कथम मनसो ब्रह्म दृष्टि विषयत्व टीका में है मनोदृष्टि विषयत्व इत्यादि है वह विषयत्व एन आगे जाके ये न अध्यात्म मनोब्रह्म उपासन विदिशत कथम विदिशत ऐसे पाठ अच्छा लगता है तो मनस भाष्य में कहा मनसा उपलब्धत्वाच ब्रह्मणो योग्य मनो प्रवृष्टे है ब्रह्म की उपलब्धि मन से ही होना है ब्रह्माकार वृत्ति मन में ही बनना है इसलिए मन मन के द्वारा ही ब्रह्म की उपलब्धि होने से योग्य मनो प्रवृष्ट ब्रह्म दृष्टि में मन योग्य है मन में योग्यता है ब्रह्म दृष्टि करने के लिए क्यों मन से ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए उसमें योग्यता है इसलिए मनोब्रह्म की उपासिता ऐसा कहा ये बताया ठीक है तथा भी कथम दृष्टि आकाशम विषयी भवती चलो मन में तो योग्यता है इसलिए मनोब्रह्म की उपासना बोल दिया योग्यता क्या है मन के द्वारा ब्रह्म की उपलब्धि होती है ठीक है फिर भी आकाश को ब्रह्म कैसे बोल रहा है आकाशो ब्रह्म उपास इत्यादि कैसे कहा तथा भी कथम ब्रह्म दृष्टि आकाशम विषय होती ब्रह्म दृष्टि का विषय आकाश कैसे होगा नहीं तेना उपलब्ध आकाश के द्वारा तो ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती है तेना आकाशे न ब्रह्म न उपलब्ध थे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती आशंका ऐसे शंका करके कहते हैं आकाश आकाश आकाश में भी ब्रह्म योग्यता के समता है कैसा है सर्वगतवाद सूक्ष्मत्वाद उपाधि आकाश व्यापक है ब्रह्म की सादृश्य है उसमें ब्रह्म व्यापक है आकाश भी व्यापक है दूसरी बात सूक्ष्म है स्थूल नहीं आकाश ब्रह्म सूक्ष्म है तो आकाश भी सूक्ष्म है दूसरी बात ब्रह्म में नाम रूप नहीं है जब आकाश में भी नाम तो है रूप नहीं है आकार नहीं है सादृश्य है इसलिए आकाश को भी ब्रह्म का में ठीक है युक्त कहा एक कहा ब्रह्मदृष्टि योग्यम यदि पूर्वण संबंध आकाश से सर्वदत्वा सूक्ष्मत्वाद ब्रह्म ब्रह्मदृष्टि योग्यम ऐसा पूर्व में योग्य पद है उसके साथ में अन्य धर्म का ब्रह्म दृष्टि योग्यम पूर्व में उसका संबंध करना टिप्पणी कारण में आकाशस्थ जब पुलिंग में प्रयोग करेंगे वहां योग्यम नहीं बोलना होगा उसको विभक्ति का प्रणाम करके योग्य बोलना चाहिए जब टिप्पणी कार कर रहे हैं योग्य इति लिंग विपरिणाम पूर्व में योग्यम है मन शब्द नपुंसक तो था इसलिए योग्यम बोला था ब्रह्मदृष्टि योग्यम बोला क्योंकि अभी आकाश शब्द तो पुलिंग है तो होना पड़ेगा ब्रह्म दृष्टि योग्य ऐसा कहना पड़ेगा ये कहा अच्छा आगे मंत्र है तदे तत्चतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद प्राणपाद चक्षुपाद श्रोत्र पाद अध्यात्म अथादिदत अग्निपाद वायुपाद आदिपाद दिशा पाद उभयमेव आदिष्टम भवती अध्यात्म चैवाधिदैव तम च तदेतचतुष्पाद ब्रह्म वाक्पाद प्राणपाद चक्षुपाद श्रोत्रम पाद इति अध्यात्मम् अग्निपादो वायुपाद आदित्यपादो दिशः पाद इति उभयमेव आदिष्टम भवती अध्यात्म चैवाधिदैवतम च तदेत ब्रह्म मनाख्यम ब्रह्म मनोब्रह्म उपासना कहा था अध्यात्म में मन है ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी है तदेत माने मनाख्यम ब्रह्म मन नाम जो ब्रह्म है पूर्व में जो मनोब्रह्म उपासना कहा था वही मन नपुंसक लिंग में तदेत वही यह मन नामक ब्रह्म चतुष्पाद चार पैर वाला है चार पाद वाला है चार पैर वाला है उसका उसमें वो प्रतिष्ठित है चार पादों में प्रतिष्ठित है मन क्या है हाँ, तदे तत्पाद ब्रह्म हाँ, वो जो मन नामक ब्रह्म चार पाद वाला है बाघ पार है एक तो वाणी पाद है उसका मान पैर है दूसरा प्राण पाद प्राण माने इंद्रिय के प्रसंग में घ्राण है घ्राण इंद्रिय है प्राण पार है घ्राण पार वाला है तीसरा चक्षुपाद और चौथा है स्रोत्र पाद स्रोत्र पाद होता है ये अध्यात्म में चार है बाघ प्राण मान घ्राण चक्षु स्रोत्र चार पाद है अच्छा। इति अध्यात्म इस प्रकार अध्यात्म में चार पाद की चिंतन करना मनोनाम ब्रह्म में और अथाधिदैवतम अब अधिदैवत उपासना आकाश और भ्रमित उपासना था उसके भी चार पाद हैं आकाश के क्या है अग्निपाद वायु पाद आदित्य पाद हो दिशा पाद आकाश को अग्निपाद अग्निपाद एक पाद अग्नि है उसके और वायु दूसरा पाद वायु है तीसरा पाद आदित्य है चौथा है दिशा यदि उभयम एवं आदिष्टम भवती इस प्रकार दोनों के उपदेश हो जाता है दोनों में चार चार पाद के द्वारा उपदिष्ट हो जाते हैं या अध्यात्म में बाघ है घ्राण है चक्षु है स्त्रोत्र है और अधिदैवत में है अग्नि वायु आदित्य और दिशा चार उनके द्वारा ये उपकृत होंगे वहां जो प्रथम है अधिदायवत में अग्नि उसके द्वारा यहाँ के प्रथम बात वाणी तो माने प्रतिष्ठित हो जाती है और दूसरे नंबर वहां वायु है और यहाँ घ्राण है वायु के द्वारा ग्रहण इंद्रिय पुष्टि की पुष्टि होती है तीसरे नंबर में आदित्य है यहाँ है चक्षु आदित्य के द्वारा चक्षु की पुष्टि होगी जो अधिदैवत होते हैं अध्यात्म के पोषक होते हैं अच्छा तीसरे नंबर चौथे नंबर में दिशा है दिशा के द्वारा स्रोत दिशा से शब्द मिलता है स्रोत की पुष्टि होनी है यह एक ठीक है कहते हैं अध्यात्म अधिदैवतम जब हित उपासना से अंगानुचिंतनम दर्शेगा दो प्रकार से विधान किया उपासना अध्यात्म उपासना और अधिदैवत उपासना मनोभ्रमित उपासित और भ्रमित उपासित अध्यात्म और अधिदैवत दो उपासना भी चर्चा हुई अध्यात्म अधिदैवतम जब हित उपासना से जो विधान किया हुआ उपासना दो प्रकार से विधान किया था जिन उपासनाओं का उनका उनका क्या करेंगे तो कहते हैं <clears throat> अंगानु चिंतन उनके अंग हैं उन उपासनाओं दोनों के अंग है चार चार अंग हैं चार पाल है दोनों के चार चार पाल है दोनों के तो अंगों का भी चिंतन करना है उसमें खाली मनोभ्रमित उपासित ऐसा नहीं उसका अंग सहित करना अंग का भी चिंतन करना क्या क्या अंग है उसके बाघ घ्राण चक्षु स्रोत आकाश ब्रह्म का होते हैं अग्नि वायु और आदित्य दिशा ये चिंतन करना एक कहा एक कहना चाहते हैं तदे तत् इत्यादि कहा मंत्र में था तदेत तदेत का अर्थ मतलब मनाख्यम जो मननामक चतुष्पाद ब्रह्म है तदेत चतुष्पाद ब्रह्म वो चार पाद वाला है वो ब्रह्म मननामक ब्रह्म ये समझना एक चतवार पादा अश्य बहुगुरी समास है चतुर्पाद में चतवारों पादा अश्य चार है पैर जिसके उसको चतुष्पाद बोलते हैं क्या अर्थ है वहां पाद शब्द अदंत है किंतु चतुष्पाद करके बोल दिया पाद से लोपो हस्ते अतिव्य सूत्र के आगे सूत्र आता है संख्या सुपूर्व से संख्या पूर्वक पाद शब्द है बहुगुणी समाज में लोप हो जाता है इसलिए चतुष्पाद बना हुआ है अकार लोप हो रखा है संख्या सुपूर्व से सूत्र के द्वारा चतुष्पाद कथम चतुष्पात्म मनुष्य ब्रह्मा प्रश्न उठता है मननामक ब्रह्म का चार पाद कैसे हैं चार पैर वाला कैसा हो ब्रह्म प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ये चार हैं पार देखो बाघ प्राण चक्षु श्रोतम इत्यादि पाला इति अध्यात्म कहा बाघ है प्राण वाले घ्राण है चक्षु है स्रोत्र है ये चार पाद है ये अध्यात्म में मन मन रूपी ब्रह्म के चार पाद है अथाधिदैवतम का अब अधिदैवत ब्रह्म के चार पाद बताएंगे अधिदैवत ब्रह्म आकाश उसके चार पाद अधिदैवतम आकाश से ब्रह्म अधिदैवत ब्रह्म आकाश नामक ब्रह्म है उसका अग्निर वायुर आदित्य दिशा देते है वो भी चार पाद है अग्नि है वायु है आदित्य दिशा है चार पाद वाला है एवं वयम एवं चतुष्पाद ब्रह्म आदिष्टम इस प्रकार से जो होगा दोनों में अध्यात्म में भी और अधिदैव में भी चार पाद वाले ब्रह्म के उपदेश हो जाता है दोनों में चार पाद वाला ब्रह्म का उपदेश हो गया अध्यात्म में भी अध्यात्म च अधिदैवतम च दोनों होगा अध्यात्म और अधिदैवत दोनों के उपास उपदेश हो जाता है तत्र बाघ मनसो ब्रह्मण प्रथम पाद है मन रूपी जो ब्रह्म है मनसो ब्रह्मण मन जो ब्रह्म है हाँ। अध्यात्म में मन ब्रह्म है मनोब्रमित उपासिका मनसो ब्रह्म मन रूपी जो ब्रह्म उसका बाघ पाद वाणी एक पैर है उसका एक पाद है अंग है पाद एक नंबर टिप्पणी कहा इतर पाद त्रयापेक्षा अन्य तीन पादों की अपेक्षा वाणी एक पाद है अन्य भी तीन पाद है उसके अन्य तीन पाद की अपेक्षा में एक पाद यह है वाचा ही पादेर इव गवादी वक्तव्य विषय प्रति तिष्ठती देखो ये व्यक्ति मनुष्य आदि वाणी के द्वारा अपने वक्तव्य विषय में प्रतिष्ठित होता है जैसे गाय अपने पैरों से प्रतिष्ठित होती है चार पैर से प्रतिष्ठित होती है गाय आदि पशु आदि ऐसे होते हैं ये कहा पादे रैवगवादी एक सादृश्य दिखा रहे हैं उपमा दे रहे हैं जैसे पैरों के द्वारा गाय आदि प्रतिष्ठित होते हैं पैर में तो गाय कोई काम की नहीं रहेगी इसी प्रकार मनुष्य जो होगा वाणी के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है अपने वक्तव्य विषय एक व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जो वक्तव्य विषय होगा वाणी से प्रकाशित करेगा वो इसलिए अध्यात्म ब्रह्म मन है उसके बाक नाम का पाद है ये कहा बाचा ही पाणी के द्वारा ही वक्तव्य विषय प्रति तिष्ठती वक्तव्य विषय के प्रति वक्तव्य विषय शब्द होगा हाँ, ये घट है पट है मठ है ऐसा करके शब्दों का प्रयोग करेगा उसके प्रति प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति कैसा होता है पादे नहीं वो गवार ये दृष्टांत है उपमा है जैसे पैरों से गाय आदि प्रतिष्ठित होते हैं उसी प्रकार वाणी के द्वारा ये मनुष्य अपने विषयों का प्रतिपादन करने में प्रतिष्ठित होता है इसलिए कोई मननामक ब्रह्म का एक पाद है बाघ अतो मन स पाद इव मन का पैर जैसा है वास्तव में पैर तो नहीं पैर जैसा है जैसे गाय पैर के द्वारा प्रतिष्ठित होती है इसी प्रकार ये भी अध्यात्म ब्रह्म जो मन है वक्तव्य विषय प्रतिभा के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है इसलिए वाक को पालता तथा प्राणो घ्राण बाधक प्राण माने घ्राण लेना घ्राण इंद्रिय को लेना है इंद्रिय को प्रसंग है प्राण माने घ्राण प्राणो माने घ्राण प्राण माने घ्राण घ्राण इंद्रिय है एक वो दूसरा पाद है वो अध्यात्म ब्रह्म जो मन है उसका तेना भी गंध विषय प्रति चक्रामती कहा तेना भी घ्राणेरा भी जो घ्राण पाद है उसके द्वारा भी गंध के प्रति विषय जो गंध होगा ग्रहण का विषय गंध होगा उसके प्रति व्यक्ति जाता है समर्थ होता है ग्रहण इंद्रिय के द्वारा गंध सूंघने के लिए गंध का जो विषय होगा उसके प्रति समर्थ होता है इसलिए वो भी एक पाद के काम करता है तथा चक्षु पाद है इसी प्रकार चक्षु भी वो नामक ब्रह्म का पाद है एक पाद है एक पैर है उसका श्रोत्रम हाँ, पाद चक्षु के द्वारा जो द्रष्टव्य के प्रति पहुंच जाता है जो द्रष्टव्य वस्तु होगा उसे पहुंचेगा चक्षु के द्वारा जैसे अध्यात्म ब्रह्म जो मन है उसका एक पार है इसी प्रकार श्रोत्रम पाद श्रोत्र भी सुन करके भी तो वस्तु का पता लगाता है व्यक्ति तो श्रोत्र भी एक पार है अध्यात्म ब्रह्म का एवं अध्यात्म चतुष्पात्म मनसो ब्रह्म इस प्रकार मन रूपी जो ब्रह्म है उसका चार पाद सिद्ध हो जाता है अब अथादिदैवतम अब अधिदैवत ब्रह्म आकाश आकाशो प्रमित उपासित कहा हुआ है अधिदैवत ब्रह्म है वो ऐसा उपासना चिंतन करना है आकाश को ब्रह्म मान करके उपासना करना उसके भी चार पाद है उस ब्रह्म का भी अथाधिदैवत तो अग्नि वायु आदित्य दिशा चार पाद अग्निपाद वायुपाद आदित्यपाद दिशापाद आकाश से ब्रह्मण आकाश में भी ब्रह्म का पाद है क्यों उदरे इव गोह जैसे गाय के पेट में चार पैर होते हैं नीचे उसी में गाय प्रतिष्ठित है उधरे तो गो जैसे गाय के पेट में चार पैर लगे हुए हैं उसी में गाय प्रतिष्ठित होती है ठीक इसी प्रकार हाँ, उधरे व गो पा रहा विलग्ना उपलब्ध हृदय कहा गाय के पैर जैसे पेट में लगा हुआ है उस प्रकार दिखाई पड़ते हैं आकाश के नीचे भी ये चार दिखाई देते हैं अग्नि वायु आदित्य दिशा सब ये आकाश के नीचे आकाश के नीचे है सब ऐसा दिखाई पाते हैं तो गाय के पेट के नीचे होने के प्रकार उनको पैर बोला जाता है चारों को गाय का पार बोला जाता है इसी प्रकार ये भी आकाश के नीचे दिखते हैं कौन अग्नि वायु सूर्य दिशा नीचे देखते हैं इसलिए ये जो पाद के रूप में कल्पना होती है ये कहा तेना तस् आकाश से आदय पादा उच्चे माने जैसे गाय के पेट के नीचे होने से पैर बोला जाता है हम लोग गाय के पाग बोला जाता है ये भी आकाश के नीचे दिखाई पड़ते हैं सब इसलिए उनको पाग कहा जाता है वास्तव में आकाश के पाप तो नहीं हो किंतु आकाश के नीचे होने के कारण उसको पाग कहा गया अभी आदि को एवं वयम अध्यात्म च अधिदैवतम चतुष्पाद आदिष्टम भगवती का इस प्रकार से दोनों का अध्यात्म में भी और अद्वैवत में भी चार पाद उपदेश हो जाता है अध्यात्म में चार पाद है उसमें पाक है ग्रहण है चक्षु है स्रोत्र है और अधिदैवत में है अग्नि वायु आदित्य दिशा ये कहना चाहते हैं ठीक है सर मनस चतुष्पाद प्रश्न पूर्वक विपाद है मन में जो चार पाद है वो तो प्रश्न पूर्वक उसकी व्याख्या करते हैं प्रश्न करेंगे कथम ये प्रश्न है कथम चतुष्पाद मनुष्य ब्रह्मण चार पाद कैसे कौन कौन है चार पाद ये प्रश्न आए तो कहा पाद प्राण चक्षु स्मृत्र वित्ते पादा एक अध्यात्म बोला ये चार पाद है वाणी है घ्राण है चक्षु है स्त्रोत्र है ठीक है आदिदेवक आकाश से चतुष्पाद प्रकट जो आयुर्वैविक ब्रह्म है आकाश उसके भी चार पाद प्रकट करते हैं अथ इत्यादि ने कहा अथादि दैवतम करके कहा आकाश से ब्रह्मणोर अग्निर वायुर आदित्य दिशा इतने पाद हो जाएगा ये सब पाद है उसके टीका में कहते हैं मन आकाश और उत्तम चतुष्पातों मन में और आकाश में चार चार पाद का कथन किया मन में भी चार पाद मन रूपी ब्रह्म का चार पाद है चार चार पैर है और आकाश रूपी ब्रह्म का भी चार पैर है कहा चार पाद है तो से आकाश और उत्तम चतुष्पात्रों कहा गए जो चतुष्पात्र तो है उसको निगमन करते हैं समापन करते हैं एवं इत्यादि का एवं उभयम एवं चतुष्पाद ब्रह्म आदिष्टम भवती अध्यात्म अधिदेवतम इस प्रकार चार पाद वाला ब्रह्म की उपदेश हो जाता है अध्यात्म का भी हो जाता है और अध्यय का भी हो जाता है आध्यात्मिकान पादान प्रपंच जो मन रूपी ब्रह्म का जो पाद है चार पाद उसके विस्तार करते हैं कौन पाद है कैसे हम इसका विस्तार करते हैं तत्र इत्यादि से मिलेगा तत्र भाग मनसो ब्रह्म पाद मन रूपी ब्रह्म का मनसा ब्रह्म मन रूपी जो ब्रह्म है हाँ, उसके बाद पाद है वाणी पाद है ठीक है यथा गवादी गंतव्य पादे प्राप्त होते जैसे गो आदि वस्तु है गंतव्य देश को कहा जाना है उन्होंने जंगल जाना है घर आना है कहा जाना है किसके द्वारा प्राप्त करते हैं गंतव्य स्थान को पैर के द्वारा चल चल करके प्राप्त करते हैं यथा गवादी देसी गाय आदि पशु हैं गंतव्यम जो गंतव्य स्थान होगा उनका जहां जाना होगा उनका जहां पहुंचना होगा किसके द्वारा प्राप्त करते हैं पारे न पैर से प्राप्त करते हैं इसी प्रकार देवदत्त होती जो देवदत्त है यह भी क्या करता है बाचा एवं पादेना बाणी रूपी पाद के द्वारा ही वक्तव्य विषय प्रतिरोध है वक्तव्य जो विषय होगा शब्द उसका वाणी से ही प्राप्त करता है वाणी न हो तो बोल नहीं पाएगा इसलिए वो पाद के स्थान में है गाय के पैर के समान उनसे से पाद कहा जैसे गाय के पैर काम करते हैं गंतव्य स्थान में पहुंचाने वाले वही होते हैं इसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी वाणी एक पाद है अध्यात्म पाद है क्यों वक्तव्य विषय के प्रति उसी के द्वारा पहुंचता है वाणी के द्वारा ही पहुंचता है जो वक्तव्य विषय होगा वाणी नहीं तो बोल नहीं पाएगा पहुंच नहीं सकता तेन तस्या युक्तम पादत्व इसलिए तस्या मैंने बाच उस वाणी में पादत्व तो सिद्ध हो जाता है इसी कारण से प्राण से वाच एवं पादत्व दर्शेगी प्राण मैंने घ्राण है घ्राण इंद्रिय भी वाणी के समान एक पाद है मनोरूप ब्रह्म का वही दिखाते हैं तेनापी कहा तेनापी मैंने घ्राणे नापी गंध विषय प्रति चक्रामी का प्रतिक्रामती से कहा गंध का जो विषय गंध रूपी जो विषय है ग्रहण न हो तो गंध को पता नहीं लगा पाएगा ग्रहण के द्वारा ही गंध का पता लगता है सूर्य भी असुर भी गंध का पता लगता है उसका विषय वही है उसको जानता है इसे वो पाद के समान है तथा चक्षु पाद पाद इत्यादि कहा चक्षु के द्वारा भी विषय में पहुंचता है जो देखने के विषय में पहुंच जाता है चक्षु न हो तो पहुंच नहीं पाएगा जैसे वो अपने पैर से गाय गंतव्य स्थान को प्राप्त होती है इसलिए पाद कहा चक्षु भी पाद है चक्षु के द्वारा भी द्रष्टव्य विषय में पहुंचेगा जो देखना है जिसको चक्षु से पहुंचेगा नहीं तो पहुंच नहीं सकता श्रोत्र पाद है जो श्रोतव्य शब्द होगा श्रोत्र नहीं तो कैसे सुनेगा उसको श्रोत्र के द्वारा ही वो शब्द में पहुंच रहा है उसमें इसलिए पाप के काम करता है गाय के पैर के जैसे काम करता है ये बताया ठीक है आदिदैविकान पादान विपणती अब आदिदैविक पाद जो आकाश के चार पाद हैं अग्नि वायु आदित्य दिशा इसकी भी व्याख्या करते हैं अथ इत्यादि का अथ आदिदैवतम अग्नि वायु आदित्य दिशा आकाश से ब्रह्म उदर इव उदरे इव गो पादा विलग्ना दृश्य इत्यादि का ये चार पाद हैं आकाश नामक ब्रह्म का अग्नि वायु आदित्य और दिशा आकाश नामक ब्रह्म के पाद हैं उदरे इव गो पादा जैसे गाय के पेट में पैर लड़के हुए दिखाई पड़ते हैं इसे आकाश के नीचे चारों दिखाई देते हैं अग्निवायु आदि सब आकाश के नीचे दिखाई पड़ते हैं इसलिए इनको पाप कहा गया ठीक हमें कहते हैं यथा गोर उदरे पादा लगना लक्षण दे जैसे गाय के पेट में पैर लगे हुए हैं लक्षित होते हैं गाय के पेट में पैर नीचे लगे हुए लगते हैं लक्षित होते हैं तथा उसी प्रकार आकाश से उधरे जो आकाश के पेट में आकाश के नीचे दिखाई पड़ने से पेट में इव अग्नि आदि जो लगना दृश्यंते अग्नि आदि भी पेट में जैसे लगते हैं अग्नि वायु आदित्य दिशा इत्यादि तस्मात तस्य ते पादा एव होती पैर तो नहीं पैर जैसे हो जाते हैं इसलिए अग्नि वायु आदित्य दिशा आकाश के पैर जैसे होते हैं आकाश के नीचे दिखाई पड़ते हैं ये कहा द्विविध पाद विवरण वर्षण दो प्रकार की पादों की व्याख्या की अध्यात्म पाद और अधिदैविक पाद उसके उपसंहार करते हैं एवं इत्यादि बताए एवं उभयम अध्यात्म च अधिदैवतम चुपाद आदिष्टम होती इस प्रकार से दोनों का उपदेश हो जाता है आदिष्ट मानी उपदिष्ट उपदेश हो जाता है आगे मंत्र है बागेव ब्रह्मण चतुर्थ पाद स्व अग्निना ज्योतिषा भाति चतपति तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्त सेना यं वेद बागे भागेव पाद क्यो अग्निना ज्योतिषा भाति च चाति च भाति च यशसा सेना य एवं वेद भाव एव ब्रह्म चतुर्थ पाद जो मनोनामक ब्रह्म है अध्यात्म ब्रह्म मनो की उपासित जो ब्रह्म की चर्चा चल रही है उसके बाघ ही उस ब्रह्म के चार में से एक पाद है चतुर्थ पाद यही है चौथा पाद चार व्यक्ति में से एक व्यक्ति है बाघे व ब्रह्म चतुर्पाद कौन सा ब्रह्म है अध्यात्म ब्रह्म मनोनामक ब्रह्म का पाद पार है चतुर्थ पाद है सो अविना ज्योतिषा बाधित बच्चता वो जो पार है बागुरु विपाद अग्नि जो आयुर्वेदिक ज्योति है पाद है अग्नि आकाश के जो एक पाद है अग्नि उसके द्वारा ये प्रकाशित होती है अधिष्ठात्री देवता अग्नि उसकी वाणी की स्थिति है भाती और तपति जब उद्दीप्त होती है और माने संताप करती है ज्यादा आप बोलेंगे तो गर्म हो जाता है बोलने पर गर्माइश आ उष्णता की भी उष्णता उष्ण हो जाती है वाणी ये कहा क्यों अग्नि ज्योति से पट माने प्रतिष्ठित है वो वो ज्योति का सहारा मिला हुआ है अध्यात्म में अधिदैव का सहारा मिलता है अधिष्ठात्री देव माने जाते हो ऐसी स्थिति है जो ये उपासना करेगा उसका दृष्टफल बताते हैं भारतीय जनता पति से कीर्तिया यशा प्रमुख है एक मिलेगा वह व्यक्ति भी इसी प्रकार लोग में प्रकाशित हो जाएगा अरे वो व्यक्ति है ऐसा प्रकाशित होगा जैसे अग्नि के द्वारा वाणी प्रकाशित हो जाती है और दूसरी बात तपट जमाने क्या होगा वो प्रशंसनीय हो जाएगा लोग किसके द्वारा प्रशंसनीय होगा किसके द्वारा ख्याति प्राप्त करेगा तो कीर्ति से और यश से और ब्रह्मवर्चस से माने ब्रह्मतेज से स्वाध्याय और वृत्त ये दोनों से होने वृत्त माने आचरण स्वाध्याय और आचरण से आने वाला एक तेज है प्रागल्य जिसको बोलते हैं तो इससे प्राप्त होगा वो व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा है और आचरणशील है ऐसा लोग बोलेंगे ख्याति और कीर्ति दोनों से होगा कीर्ति माने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रशंसा करेंगे लोग और यश का अर्थ होता है परोक्ष लोग परोक्ष में उसकी प्रशंसा करते हैं ऐसा होंगे ये कहा ठीक है कहते हैं संप्रति आध्यात्मिक पादान आदित्य पादैर अधिष्ठेतया संबंध अनुचिंतन दर्शयतम अध्यात्म पाद की चर्चा भी हो गई आदिदेविक पाद की चर्चा भी हो गई किंतु वो जो आयुर्वैदिक के द्वारा आयुर्वैदिक में ये आध्यात्मिक आश्रित है ऐसा दिखाना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं कर सकते ये संबंध भी दिखाना चिंतन करना है आयुर्वैदिक और आध्यात्मिक पादों में क्या संबंध होगा उस संबंध का भी चिंतन करना है मन नामक ब्रह्म और आकाश नामक ब्रह्म दोनों ब्रह्म को जानना है और उनमें चार चार पाद को जानना है अब क्या बोलना चाहिए उनके आयुर्वेदिक पादों के साथ में आध्यात्मिक पाद का संबंध भी जानना होगा ये कहना चाहते इसलिए है संप्रति आध्यात्मिक पादाराम जो आध्यात्मिक पाद हैं बाघ घाण चक्षु श्रोत्र मनोनामक ब्रह्म पाद है उनके पादाराम आदिदेविक ही पाद ही आदिदेव पादों के साथ तृतीय अंतर हो आदिदेविक जो पाद हैं जो कि अग्नि वायु आदित्य दिशा दिशाएं हैं अधिष्ठेत दया मैंने आश्रित है ये ये उनमें आश्रित है के बाद में आश्रित है अगर अभी अब निकल जाए यहां से तो वाणी बोल नहीं सकती अग्नि जब तक कृपा करे तब तक वाणी बोलेगी अंतिम समय में अग्नि निकल जाता है श्राद्रदेव निकल जाते तो वाणी बोलना बंद हो जाती है ऐसी स्थिति है तो उनमें आश्रित है ये आध्यात्मिक पाद आदिदेविक पाद में आश्रित है ये संबंध है ये दिखाना है संबंध और चिंतनिया तो संबंध का चिंतन करना चाहिए दर्शे तो करते कहा इसको दिखाने के आरंभ करते हैं तत्र इत्यादि भाष्य कहते हैं तत्र बाघे व मनसो ब्रह्मण चतुर्थ पाद है मन रूपी ब्रह्म का वाणी ही चतुर्थ पाद है चार पादों में से एक पाद है सा सो पाद है या सो माने सा माने पाद बाघ तो स्त्रीलिंग है क्योंकि सो स बोल दिया स माने पाद वो जो पाणी रूपी पाद है वो पाद अग्निनाम अद्वैवते ज्योतिषा भाति च दिप्यते तपति च संतापम च औष्टम करती कहा उस अग्नि के द्वारा आजदैविक जो पाद है आकाश ब्रह्म का एक पाद है अग्नि प्रथम पाद उस पाद के द्वारा ज्योति के द्वारा उस अग्नि रूपी ज्योति के द्वारा भाती से प्रकाशित होती है बाण बोलने में समर्थ होती है और उष्णता को भी प्राप्त करती है तो वहां अग्नि में उष्णता आए तो इसमें भी उष्णता प्राप्त होती है अब ज्यादा बोलेंगे तो गर्म हो जाती है शरीर गर्म होता है उस पर जो संतापम औष्टम करती उष्णता भी करती है वाणी में सामर्थ्य आता है अग्नि के माध्यम से आज दैविक पाद के कारण से इसमें ये धर्म आ गया एक तो बोलने के सामर्थ्य आए और एक उष्णता सामर्थ्य आ जाए दूसरा अथवा दूसरी बात तैल घृत आदि आग्नेय असमय नाम अग्नि संबंधी को आग्नेय बोला अग्नि संबंधी पदार्थ अग्नि ढक ढक प्रत्यय लगा करके अग्नि संबंधी को आग्नेय बोला जाएगा घी तेल आदि का सेवन से घी तेल आदि का सेवन ज्यादा करने से क्या होगा अथवा तैल घृत आदि आग्नेय असने ना तेल घी घी आदि जो अग्नि संबंधी पदार्थ है मैंने तेजस पदार्थ आग्नेय पदार्थ तेजस पदार्थ इनके भोजन के द्वारा असन है ना इद्धा बाण वाणी प्रदीप्त हो जाती है वाणी तेजस्वी हो जाती है विद्याभाग भाति च तपति ऐसे वाणी प्रकाशित होती है और उष्टता भी करती है कि माने बदनाय उत्साहवती सत्यार्थ बोलने के लिए उत्साहित हो जाती है तेजस पदार्थ का सेवन करने से घी तेल आदि का सेवन करने से वाणी में ऐसे होती है इत्यादि विद्वत फलम भांति तब उपासना का फल उपासना का फल बताते हैं भारतीय चित्रपति से ये भी प्रकाशित होगा लोगों के सामने और तपता भी है तपता माने प्रशंसनीय होगा ये व्यक्ति कैसा कीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्त सेना एवं देना यथोक्त देना कहा इस प्रकार से जो जानता है ठीक है हमें कहते हैं सो अगले अग्निना इत्यादि अर्थांतर महा सो अर्जुना भारतीय पति जी कहा था वो जो तो वाणी विपाद के बारे में कहा था एक तो बता दिया इनका उसके द्वारा क्या प्रकाशित होता है प्रदीप्त होता है दूसरा उष्णता होती है दूसरे बात अन्य अथवा करके कहा घृत तेल आदि के सेवन के द्वारा वाणी में बोलने के उत्साह आ जाती है ये भी है इसलिए भी भारतीय शब्द से सिद्ध होता कहा कीर्ति कीर्ति यशस्व प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वाभ्याम सर्वत्र प्रत्यक्षाभ्याम भेद कहते कीर्ति और यश में क्या भेद फर्क होगा कीर्ति बोले यश बोले एक जैसे ही लगता है कहते कीर्ति माने प्रत्यक्ष उसके सामने ही लोग उसकी प्रशंसा करेंगे इस उपासक के और यश माने क्या होता है परोक्ष रूप में वो उसके बाहर भी करते हैं वो ऐसा व्यक्ति है ऐसा करके बोलते हैं और ब्रह्म प्रत्यक्ष तो है स्वाध्याय और वृत्त के द्वारा आने वाला आचरण और स्वाध्याय के द्वारा आने वाला तेज है एक तेज ऐसा ये बता रहे और कहते हैं प्राण एव ब्रह्मण चतुर्थ पाद सवायुना ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेना य एवं वेद प्राण ब्रह्मण सदृशबाण स वायुना ज्योतिषा भाति चपति चाति चपति चीर्त्या यशसा ब्रह्म वर्त सेना यशसा वेद चक्षुरव ब्रह्मण चतुर्थ पारः स आदित्येन ज्योतिषा भाति चपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद चक्षुरेव ब्रह्म चतुर्थपादः सरादित्येन ज्योतिषा भाति च भाति च च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन एवं वेद ब्रह्मण चतुर्थ पाद स दिग्भिर्ज्योतिषा भाति चपति चाति चपति भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेना य एवं वेद य ब्रह्मण चतुर्थ पाद ब्रह्मणश्चतुर्थपादः सदिग्भिर्ज्योतिषा भाति चपति चा भाति चतपति च कीर्त्या यशसा प्रमवर्त सेना यम वेद यम वेद प्राण एव ब्रह्म चतुर प्राण ने घाण घाण इंद्रिय जो है ब्रह्म का एक पाद है चतुर्थ पाद चौथा पाद है हाँ, माने अध्यात्म ब्रह्म का मनोनामक ब्रह्म का एक पाद है सब वायुना ज्योतिषा बाधि वायु के द्वारा ये ध्यान इंद्रिय प्रबल होती है हम्म। प्रकाशित हो जाती है और उत्साहित भी होती है तपति माने उत्साहित अपने गंध ग्रहण के लिए उत्साहित हो जाती है वायु के द्वारा ऐसा अधिदैविक वायु के द्वारा ऐसी स्थिति है तो उपासक के लिए फल भी यही होगा भांति चतुर्थी वो भी लोगों के सामने प्रकाशित हो जाएगा लोगों के सामने आ जाएगा परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से और क्या होगा प्रशंसनीय भी होगा तपति माने प्रशंसनीय भी होगा ऐसा होगा किसके द्वारा तीन कीर्तिया यशसा ब्रह्म कीर्ति कीर्ति होता है प्रत्यक्ष और यश माने परोक्ष परोक्ष रूप से भी प्रशंसा होगी उसके और प्रत्यक्ष में भी प्रशंसा होगी इस और ब्रह्म वर्चस के द्वारा भी ख्याति प्राप्त करेगा इसी प्रकार चक्षुर एवं ब्रह्म चतुर अध्यात्म जो ब्रह्म है मन उसका चक्षु चतुर्थ पाद है और स मान वो जो चतुर्पाद ब्रह्म चतुर्थपाद है चक्षु रूपी चतुर्थपाद ब्रह्म का उत्पाद आदित्य ने ज्योतिषा आदित्य कर दिया आदित्य उसके अधिष्ठात्री देवता है उसके द्वारा वो प्रकाशित होता है और अपने विश्व में जाता है सामर्थ्य प्राप्त करता है विश्व में जाने का रूपादि दृष्ट पदार्थ में पहुंचने का सामर्थ्य करता प्राप्त करता है वो उपासक भी भाती चतपति वो भी प्रकाशित होगा लोगों के सामने उपासक जिससे कीर्ति आ यशसा ब्रह्म ना ये कहा कीर्ति से यश से ब्रह्मवर्चस्वान काम इसे या एवं वेद इस प्रकार तू जानता है एवं वेद ये कहा इसी प्रकार में एवं ब्रह्मण चतुर्थ पाद अध्यात्म ब्रह्म जो मन है उसके श्रोत्र इंद्रिय चतुर्थ पाद है स दिग्भीर ज्योतिषा बाधित वो दिशा दिशा उसकी अधिष्ठात्र देवता है उसके द्वारा श्रोत्र इंद्रिय प्रकाशित होती है और अपने विषय ग्रहण करने में सामर्थ्य विषय उसका शब्द ग्रहण करने सामर्थ्य होना है प्राप्त करना है प्राप्त करके कहा उपासक के लिए भी भाति में जो भी प्रकाशित होगा हाँ, किसके द्वारा कहा कीर्ति यशसा ब्रह्मवर्चस्व कीर्ति यश ब्रह्मवर्चस्व के द्वारा यह एवं वेदा एवं वेदा यह खंड समाप्ति के लिए दो बार बोल दिया अच्छा, ठीक भाष्य में कहते हैं तथा प्राण एवं प्रमाण चतुर्पाद प्राण मैंने ज्ञानेन्द्रिय है सब वायु ना गंधाय भादी के वजह माने वो वायु के द्वारा जो ग्रहण विपाद है गंध ग्रहण के लिए प्रकाशित हो जाती है और होता है और अब उत्साह भी सामर्थ्य भी प्राप्त करता है यह अर्थ है समर्थ होता है गंधाय का अर्थ करना गंध ग्रहण है गंध ग्रहण के लिए प्रकाशित हो जाती है ग्रहण क्रिया जब वायु के सहारा मिल जाए तब अधिदैवत की सहारा मिलने पर और माने सामर्थ्य भी प्राप्त करती है ये कहना है तथा इसी प्रकार चक्षुर आदित्य में रूप ग्रहण आ गया इसी प्रकार चक्षुर की जो पाद है ब्रह्म का अध्यात्म वो आदित्य के द्वारा रूप ग्रहण के लिए समर्थ हो जाना वहां पीछे तपति तो चाहिए था आएगा और श्रोत्रम जो श्रोत्र इंद्रिया यह दिग्वी सप्त ग्रहण दिशाओं के द्वारा भाती और तबती किसके लिए शब्द ग्रहण के लिए दिशाओं के द्वारा उपकृत होने पर श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण के लिए सामर्थ्य प्राप्त करती है अर्थ है विद्या फलम समान विद्या का फल समान है इधर भी यही है माने दृष्ट फल में समान है सभी वे कहा भांति च तपति जब कीर्ति इसके साथ ब्रह्मचर्य सभी चारों पर्याय में ये बताया उपासक के लिए चारों पर्याय का फल एक ही है कीर्ति से ख्याति से और यश से प्रकाशित हो जाना उसको प्रशंसा प्राप्त करना है दृष्ट फल ऐसा है सर्वत्र माने लौकिक फल अलौकिक फल दोनों समान है अलौकिक फल क्या होगा ब्रह्म संपत्ति और दृष्टम फल सगुण ब्रह्म की प्राप्ति जो होगी निर्गुण ब्रह्म तो नहीं उपासना से नहीं मिले सगुण ब्रह्म प्राप्ति अदृष्ट फल होगा अदृष्ट फल ये बात ही बदी अधिजा कीर्ति इसके साथ ब्रह्म प्रत्यक्ष बोला हुआ है चारों में समान है फल चारों पर्याय में दृष्ट बल भी समान है अदृष्ट बल भी समान है सर्वत्र माने दृष्ट अदृष्ट दोनों में समान फल है सर्वत्र भाती से तपति कीर्त्या ऐसा ब्रह्म से यही बोला है चारों फल यही बताया है दृष्ट फल यही है और अदृष्ट फल उसके ब्रह्म की प्राप्ति है यानी सवर्ण ब्रह्म की प्राप्ति है एक ब्रह्म संपत्ति अदृष्टम फलम ब्रह्म मानी सवर्ण ब्रह्म उपासना चल रही उपासना से निर्गुण ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा सवर्ण ब्रह्म की प्राप्ति है ये फल है या एवं वेदा एवं वेदा इत्यादि कहा मैंने दिलुक्तिर दर्शन समाप्त था ये उपासना समाप्ति के लिए दो बार बोल दिया दर्शन मैंने उपासना चल रही थी इससे समाप्ति के लिए दो बार बता दिया कहा अब कहते हैं मनोब्रह्म माने तजला के शांत उपासित में मन गुण सहित ब्रह्म की उपासना करना चाहिए करके आया मन आ गया वहां सर्वम खलुदम ब्रह्म सांडिल्य विद्या चल रही थी उसमें द्वितीय मंत्र में आ गया मनोमय प्राण शरीर बाहर रूपये मन गुण विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करे खाली ब्रह्म की उपासना नहीं करेगा वहां एक देश से उपासना लिया था मन की किंतु अभी समस्त रूप से मन की उपासना बताई मनोब्रह्म की उपासित वो मन की उपासना अब उसमें भी क्या कहते हैं आदिदैवत ने कहा था आदित्य ब्रह्म उपासित उपासना कहा था वही सांडिल विद्या में आया हुआ जो आकाश आकाश आत्मा बोला था वहां तो उस आकाश ब्रह्म की उपासना या जब करने लगे तो उसमें आ गया चार पार में आ गया आदित्य आ गया हम्म। उसमें चार पार आकाश के चार पार में अग्नि वायु आदित्य दिशा ही आ गए तो आदित्य एक देश में आया हुआ था अभी सर्वदेश में उपासना उसकी करते हैं उस आदित्य की आदित्य उपासना है <clears throat> उपासना चिंतन ऐसी है आदित्य के बिना कुछ भी नहीं है कुछ दिखता नहीं है संसार संसार को दिखाने वाले आदित्य है बड़ी महिमा है अभी हम उसके चिंतन करेंगे आदित्य की किस ढंग से करते हैं आदित्य उपासना करनी है ठीक है कहते हैं खंडांतर से संगति आहा अब आने वाला जो एक और विंश खंड है उन्नीसवा खंड है उसके संगति बताते हैं आदित्य ब्रह्मणा पाद होता आदित्य अधिदेवत ब्रह्म का पाद कहा था जो आकाश रूपी ब्रह्म का एक पाद बताया था आदित्य को चार पाद में से एक पाद बताया था अग्निपाद वायुपाद आदित्य पादा दिशा पादा ऐसा बोला था पूर्व अष्टादश खंड में बताया था आदित्य ब्रह्मापादे भूता पाद भूत तस्वीर सकल ब्रह्म दृष्टिचर्याम इधम आरभ्य दृष्टिचर्याम इधम आरभ्य के कहा उस आदित्य में वहां पर एक पाद कहा था चार पायर में से एक पायर है वो आदित्य बोला था किंतु अभी समस्त ब्रह्म दृष्टि करनी आदित्य में वहां तो चार मिलकर ब्रह्मदृष्टि होती थी अग्नि वायु आदित्य दिशा किंतु अभी आदित्य में ही ब्रह्मदृष्टि करनी है इसलिए आरंभ करने जा रहे ठीक है आदित्य ब्रह्मण पाद उत्तर तृतीय अध्याय के अठारहवें खंड के द्वितीय मंत्र में कहा था आदित्य ब्रह्मण द्वितीय पाद ये कहा था तस्मिन उस आदित्य में सकल ब्रह्म दृष्टि दृष्टचर्या इधम आरभ्य थे संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि के लिए अभी यहां आरंभ करने जा रहे हैं वहां तो चार पाद में से एक पाद रूप से कहा था आदित्य को संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि हुई नहीं संपूर्ण तो चार मिलके हो रहे थे वहां अग्नि वायु आदित्य दिशा मिलके हो रहे थे अभी आदित्य ही पूरा ब्रह्म है नहीं बोला जा रहे हैं <clears throat> समस्त ब्रह्म के आरंभ किया जाता है ऐसा कहा अच्छा। मंत्र है आदित्यो ब्रह्म इति आदेश तस्ोपव्याख्यानम असदेव इदमग्रे आसीत् तत्सदासीत् तत्समभवत् तदाण्डम् निवर्धिरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्राम् असयत तम् निरभ्यत ते आण्डकपाले रजतम् च सुवर्णम् च आदित्यो ब्रह्म आदेश तस्ोपव्याख्यानम असदैव इदमग्रे आसीत् तत्सदासीत् तत्समभवत् तत् आण्डम् निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्राम् असयत तन्निरभिद्यत ते आण्डम् आण्डकपाले नजतम च सुवर्णम च अवगताम आदित्य ब्रह्म इति आदेश उपदेश आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश होता है आदेश माने उपदेश ऐसा आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदित्य ब्रह्म दृष्टि करना ये कहा क्यों तो कहते तस्व का व्याख्यान उसे आदित्य की आपकी व्याख्या है आगे तस्य मैंने आदित्य से उपव्याख्यान उसकी व्याख्या है आगे सारी माने संसार उसके बिना कुछ नहीं ये सिद्ध करेंगे अभी आदित्य के विवरण क्यों कहते हैं असदैव मग्न आशिति जो नाम रूपात्मक जगत है जब आदित्य के बिना असत था अव्यक्त था व्यक्त नहीं था प्रकाशित नहीं होता था असत का अर्थ मैंने शून्य नहीं अव्यक्त था नाम रूप अभिव्यक्त नहीं होता कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है आदित्य जब तक नहीं है व्यक्त नहीं होता अव्यक्त था या असत का अर्थ अव्यक्त है अखंड माने शून्यवाद नहीं बौद्धों का बात नहीं तो आएगा ध्यान देना शून्य नहीं असदैव एकदम आसित इदम जगत ये जो नाम रूपात्मक जगत में दो अंश है नाम और रूप प्रत्येक वस्तु का एक नाम है और अपनी एक आकृति है ये संसार होता है इदम जगत ये जो जगत है असदैव आसित असती था माने अव्यक्त था व्यक्त नहीं था अपने रूप दिख नहीं पा रहा था उसका उसको रूप देखने के लिए क्या चाहिए प्रकाश आदित्य चाहिए आदित्य नहीं तो असत था अव्यक्त था यह आता है अव्यक्त तब सदाशीर कर रहे हैं बाद में यह जगत कार्याभिमुख हो गया जैसे बीज पहले फूलने लग जाता है अंकुर आने के पहले वैसे ये भी थोड़ा कार्याभिमुख हो गया आगे माने नाम रूप प्राप्त करने के तरफ चलने लगा ये जगत तत् माने वही जगत सद आशीत कहा और सत कार्य कार्याभिमुख हो गया तत्सम अभवत फिर उसके बाद में कहते हैं वो अंकुरित हो गया जगत अब जगत दिखने के लिए तैयारी हो गई अंकुरित हो गया जैसे बीज से अंकुर निकल जाता है आगे वृक्ष बनेगा इसी प्रकार वो भी इस तरह में हो गया तब अंडम निर्वर्तित कहते उसके बाद में एक अंडा बन गया अंडा अंडा वाले जैसे पक्षी आदि के आगे होते हैं उस तरह से एक अंडा के रूप में बन गया जगत सारा संसार जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं ना ब्रह्मरूप अंडा है ब्रह्मांड बोलते हैं तो जैसे अंडे के भीतर में जो कुछ होता है ये भी एक अंडा के भीतर है सारा संसार चौदह भुवन आदि ऐसा है अंडम निर्भर होता एक अंडे के रूप में परिणत हो गया वो <clears throat> फूल हो गया उसके बाद सब संवत्सर से मात्राम असहता एक साल तक चुपचाप पड़ा रहा हो जब अंडा के रूप में तैयार हो गया था तैयार कैसे था पंचभूतों से होना है पंचभूत जो पंचतन मात्रा जो होते हैं शब्द स्पर्श रूप प्रसादी पंचतन मात्रा होते हैं माने अपंजीकृत अवस्था के पंचभूत उसके द्वारा यह अंडा हो गया माने स्थूलीभूत हो गया पंचीकृत अवस्था में आ गया यह स्थिति है तो सत संवत्सर से मात्रा में असहता एक साल तक पड़ा रहा जैसे पक्षी के अंडा फूटने में समय लगता है इस प्रकार इसमें भी ऐसी स्थिति हो गई तन निर्वेद उसके बाद तन मान ततः एक संवत्सर के पश्चात निर्वेद्य फूट गया दो दो दो भाग हो गया अंडा फूट गया ते अंडा कपाल दो कपाल दो टुकड़े में हो गया वो दो टुकड़ा हो गया एक नीचे ऊपर दो टुकड़ा हो गया जैसे पक्षी का अंडा फूटता है दो हो जाते हैं ऐसे दो हो गया तो रजतम तो सुवर्णम तो नीचे वाला जो टुकड़ा था चांदी हो गया ऊपर वाला सोना हो गया वो जो बाहर का छिलका भीतर जो पैदा हुआ वो आदित्य है ऐसा बोला चाहेंगे ऐसा कहेंगे रजतम तो सुवर्णम से अवताम कहा रजत और सुवर्ण रूप में हो गए जो बाहर के दो तो फूटे हुए टुकड़े थे कहा दो खंडा ऐसा बन गया भाष्य में कहते हैं आदित्य ब्रह्म इति आदेश आदेश माने उपदेश आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है आदित्य को ब्रह्म समझना ऐसा ऐसा चिंतन करना तस्वीर व्याख्यान क्रियते तृतीय उसी की व्याख्या की जाती है क्यों उसकी प्रशंसा के लिए आदित्य नहीं है तो कुछ भी नहीं ये आदित्य की प्रशंसा करना लिए उसकी व्याख्या होती है असत अव्याकृतम नाम रूपम इदम जगत अशेषम अग्रे ताग अवस्थायाम उत्पत्ति आश्रित न तो असदैव असदैव इधम अग्रे आश्रित अर्थ करते ये जगत वो है कैसा जगत असद मैंने अव्याकृतम कहा व्याकृत नहीं था थूलीभूत नहीं था थूलीभूत अव्याकृतम अव्याकृत नाम रूपम जिसमें नाम रूप व्याकृत नहीं नाम रूप लगा हुआ नहीं था ऐसी स्थिति में जगत पड़ा था इधम जगत अशेषम सारा संसार जगत पूरा अग्रे बने प्राग अवस्थायाम उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में ऐसी स्थिति थी उत्पत्ति मान प्राग अवस्थायाम अग्रे का अर्थ प्राग अवस्था उत्पत्ति प्राग अवस्था उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में आशित न तो असदैव किंतु बौद्धों का जैसा शून्य नहीं समझ रहा असद नहीं समझ रहा अव्यक्त रूप में था अव्यक्त नहीं था क्यों देखने के साधन नहीं था इसका प्रकाश की प्रतीकता नहीं आदित्य पैदा नहीं हुआ अभी अभी आदित्य पैदा होना है ये जो अंड कपाल से आदित्य पैदा होगा ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे असल क्योंकि कथम असत सत जायता है असत कार्य से प्रतिषेध ष्ठ अध्याय में ऐसा आएगा सदैव सुमित में आशीत एक द्वितीय दूसरा मंत्र आएगा असदैव इधमग्रे आशीत ऐसा असदैव इधमग्रे आशीत ऐसा आएगा तो उसके आगे वही द्वितीय मंत्र का आएगा ऐसा कथम सौम्य असत सत सदैव एकदम अग्नि आशी सदैव शून्य के अग्नि आशी ऐसा बोलेंगे कथम असत असत आक्षेप करेंगे असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी नहीं हो सकती माने वहां असदैव एकदम अग्नि आशी ष्ठ अध्याय में माना है उसका अर्थ होता है अव्याकृत रूप में था जगत अव्यक्त था व्यक्त नहीं था सृष्टि के पहले कोई भी व्यक्त नहीं होता है अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान तत्व का अव्यक्त शब्द का अर्थ गीता में प्रयोग है कहते हैं ये प्राणी जितने भी है उत्पत्ति के पहले अव्यक्त थे ये दिखता नहीं था व्यक्त नहीं था नाम रूप दिखता नहीं था व्यक्त मध्यानि भारत अभिव्यक्त हो रखे अभी नाम रूप लगा हुआ अभी दिख रहा है अव्यक्त निधान आगे भी अव्यक्त होना है अदृश्य होना है पहले भी अदृश्य था अभी दृश्य हो रखा है आगे भी अदृश्य बनेगा ये स्थिति है सारे संसार की स्थिति है तत्र का परिदेवना इसको क्या शोक करना है ऐसा तो कहा कथम असत सज्जायत इति असत कार्यत्व से प्रदय ष्ठ अध्याय के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र में ऐसा कहेंगे पहला मंत्र होगा वहां सदैव संविध मंत्र आशित एक विवाद द्वितीय दूसरा मंत्र आएगा असदैव दिमग्र आशित उसके बाद वही द्वितीय मंत्र में कहेंगे कथम सौम्य असत असत जाए तो असत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है कुछ नहीं से कुछ होता नहीं है कुछ नहीं से नहीं होता कुछ भी नहीं होता कुछ चाहिए कारण के बिना कार्य होगा नहीं अभाव से कुछ पैदा हो नहीं सकता कुछ नहीं मैंने अभाव अभाव से नहीं हो सकता क्यों प्रत्येक कार्य चाहने वाला व्यक्ति कारण को ढूंढता है जिस व्यक्ति को घट बनाना होगा हाँ, यदि असत से होता तो असत अभाव तो यही यही है तो यहीं से हो जाता क्यों नहीं होता वो मिट्टी को ढूंढता है तेल चाहने वाला तिल को ढूंढता है तत्त कारण में उसकी प्रवृत्ति होती है कार्य चाहने वाले को तेल चाहता है कार्य वो चाह रहा है कि पहले किसको ढूंढेगा तिल को ढूंढेगा ऐसा है असत से सत की उत्पत्ति हो नहीं सकती है ये करके कहा इसलिए यहां असद एवं इधमग्रे आश्रित का अर्थ है अव्यक्त था व्यक्त नहीं था नाम रूप नहीं लगा हुआ था ऐसा कहा पूर्व पक्ष शंका करता है ननु यह असदैव इति विधानाद विकल्प सात वहां तो आक्षेप किया ष्ट अध्याय में कथम सौम्य कथम असत सत्याय था आक्षेप ने कहा सदैव सौम्य दमग्रे आशित एक विवादित तो दोबारा बोला वहां सत्य हो ठीक है वहां असत करता अभ्यक्त करेंगे वहां ऐसा कहने से ष्ट अध्याय में किंतु यहां तो ऐसा आक्षेप किया नहीं है असदैव आश्रित कहा है यहां असत का अर्थ असत ही माना जाए और वहां असत का अर्थ था वहां जो ष्ट अध्याय में क्या माने अव्यक्त माना जाए विकल्प कर दिया जाए यहां जैसा शब्द आया वैसे माना जाए ये पूर्वाधिक कहता है नम यह असदैव विधान असत एव इधमग्र आशित एवकाम लगा करके बोला है असत कहा इसलिए यहां पर असत ही माना जाए जगत नहीं था बिल्कुल था ऐसा कहा जाए ये शंका आ गई तो सिद्धांत बोलते न हाँ, क्रियासु इव वस्तु ने विकल्प होने देखो क्रिया में तो विकल्प होता है एक हवन के बारे में आया होती जुहोती जो होती ऐसा आया पूर्व मार्ग में चर्चा है एक यजमान है उदय होने पर हवन करता है सूर्योदय के बाद हवन करता है अग्निहोत्रादि और दूसरा क्या करता है सूर्योदय से पहले हवन करता है तो क्रिया है वहां विकल्प हो सकता है पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है क्यों क्रिया जो होती है कर्ता के अधीन है कर्ता जैसे चाहे वैसे करेगा सूर्योदय के बाद कर सकता है सूर्योदय से पहले कर सकता है वो तो कर्ता के अधीन है क्रिया कर्ता की इच्छा के अधीन है किंतु वस्तु कोई कर्ता के इच्छा के अधीन नहीं होती है मैं इसको गाय के रूप में देखना चाहूं तो नहीं देख सकता हूं मनुष्य को मनुष्य देखेगा दो दो नहीं हो सकते वस्तु में विकल्प नहीं क्रिया विकल्प होता है वस्तु को जो वस्तु है वही होगा रूपांतर से देखना चाहे तो नहीं देख सकता वस्तु में विकल्प नहीं होता ये कहना चाहते ऐसे सिद्धांत कह रहे न तो न क्रिया से हुए वस्तु में विकल्प या, या वस्तु की चर्चा है यह जगत किस रूप में था यहां कोई क्रिया की चर्चा नहीं है विकल्प कर दिया जाए माने वहां तो असत का अर्थ अव्यक्त माना जाए ष्ठ अध्याय और यह असत का अर्थ शून्य मानना ऐसा संभव नहीं है शून्य होगा तो शून्य ही होगा अव्यक्त होगा तो अव्यक्त ही होगा एक ही अर्थ होगा वस्तु में एक अर्थ चाहते हैं सिद्धांत बोलते ना क्रियाशील वस्तु में विकल्प अनुपत्ति जैसे क्रिया में विकल्प हो जाता है कि वो कर्ता के इच्छा के अधीन है क्रिया जैसा चाहे वैसा करेगा उदित जो होती है अनुदित जो होती है ऐसा आता है सूर्योदय होने के बाद और करता है उसकी इच्छा है सूर्योदय से पहले हवन करता है उसकी इच्छा है कर्ता के अधीन है हवन किंतु वस्तु कर्ता के अधीन नहीं मैं इसको भिन्न तरह से देखना चाहूं तो देख नहीं सकता हूं जो वस्तु जैसा होगा वैसे दिखेगा वस्तु में विकल्प नहीं होता है कहा इसलिए यहां असत का अर्थ अव्यक्त ही करना है जैसे वहां ष्टाध्याय में अव्यक्त अर्थ करेंगे हाँ, उसी प्रकार यहां भी अव्यक्त अर्थ ही करना है ये सिद्धांत ने कहा आगे पूर्व से शंका करता कथम तरी ही इदम असदैव फिर यहां यहां पर असदैव इदम अग्रे आशित इदम असदैव कैसे बोल दिया ये जगत असत ही था ऐसा क्यों बोला यदि असत अर्थ नहीं कर रहा है तो इदम माने जगत असदैव असत ही था ऐसा अर्थ क्यों की ऐसा शब्द क्यों प्रयोग किया यहाँ ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं सिद्धांत नौ अवोचाव हम कह चुके हैं अव्याकृत नाम रूप जिसके नाम रूप व्याकृत नहीं हुआ था थूलीभूत नहीं था इसलिए वहां असत शब्द का प्रयोग हुआ मैंने अव्यक्त था था जगत था अव्यक्त रूप में था ऐसा बोलता है अबोचा हमने कहा सिद्धांत कह रहे हम बोल चुके हैं कि अव्याकृत नाम रूपत्वाद नाम रूप व्याकृत न होने के कारण से फूलीभूत न होने के कारण असत इव असत असत जैसा असत वास्तव में असत नहीं ऐसा कहा गुरुवारी बोलते हैं ननु एव शब्दों अवधारणा कहते हैं महाराज असत एव करके एव लगा असत ही था ऐसा आ रहा है शब्द से तो वो शब्द अवधारण के लिए दिया गया यहां वो शब्द है असत एव असत ही था ऐसा आया तो सिद्धांत सत्यम एवं न तो सत्वाभाव बधा थी तो जगत के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं करता वो शब्द अवधारण नहीं करता इसका तात्पर्य और कुछ है मान अव्यक्त था कहने में तात्पर्य है न तो सत्वाभाव देते जगत का सत्व का अस्तित्व का अभाव का अवधारण नहीं देता माने जगत नहीं था ऐसा नहीं सिद्ध कर सकता ये वो सत्य होता था किमतर ही फिर प्रश्न फिर क्या होगा फिर तो ये वो शब्द किसमें कैसे प्रयोग होगा तब कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं नाम और व्याकृत विषय सत्शब्द प्रयोग दृष्ट है जब स्थूलीभूत हो जाता है तो घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि सत शब्द का प्रयोग हो जाता है नाम रूप व्याकृत होने के पश्चात वस्तु में सब शब्द का प्रयोग देखा है पहले नहीं देखा जब नाम रूप नहीं लगते हैं घट बना ही नहीं नाम रूप लगा नहीं घट बनाने तब तक घटो अस्थि नहीं बोला जाता जब नाम रूप व्याकृत हो जाता है थूलीभूत हो गया मानी वस्तु बन गया तब सत शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है ठीक है तो हैं नाम रूप व्याकृत विषय है जो नाम रूप के द्वारा व्याकृत हुआ विषय है थूलीभूत हो गया जो विषय उसमें सत शब्द प्रयोग हो दृष्टा सत शब्द का प्रयोग देखा है घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि बोलते हैं देखा है तच्च नाम रूप व्याकरण आदित्य आयतम और जो नाम रूप का थूलीभूत होना जो है आदित्य के अधीन है अधेरे में कोई वस्तु होगा हमें ज्ञान नहीं होता क्यों उसके ना रूप देखा जाए ना आकृति पता लगे वो किसके अधीन है प्रकाश के अधीन आदित्य के अधीन है तच्च नाम रूप व्याकरण जो नाम रूप व्याकृति है वो थूलीभूत होना है आदित्य आयतम आदित्य के अधीन है प्राय प्राय देखा है जगत जगत में नाम रूप की जो तो व्याकृति है थूलीभूत होना आदित्य के अधीन देखा है तद अभाव ही अंधम तमह इदम न प्रत्यायता आदित्य के अभाव होने पर तद अभाव है आदित्य से अभाव है आदित्य के अभाव होने पर अंधम तमह बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा कुछ नहीं दिखेगा इदम न प्रज्ञा जगत की ज्ञान ही नहीं होगी घट है कि पट है कि पता ही नहीं लगेगा आदित्य का अभाव होने पर अन्नम अधेरा अधेरा छा जाएगा अधेरा छाने से इदम न जाए थे न प्रज्ञाएगा इसको विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता जगत को न प्रज्ञाएगा किंचन किसी को भी नहीं जाना जाता स्थिति इसी कारण से पर एक वाक्य है या आदित्य की स्तुति पर एक वाक्य है जो असदैव दमक आशित वाक्य जो है आदित्य की प्रशंसा के लिए है आदित्य के बिना ये नहीं के बराबर था ऐसा बदलाने के तात्पर्य है वाक्य हाँ। सद अभी इदम होते हुए भी ये वाक्य तुति पर वाक्य है वाक्य में सद अभी इदम जगत जगत तो था पहले भी नाम रूप रहित होकर के बैठा हुआ था कारण में लीन होकर बैठा था सद अभी इदम प्रागुत जगत असदेव होता हुआ भी उत्पत्ति के पहले होता हुआ जगत असत जैसे राख्यों यदि आदित्यम समति आदित्य के अभाव के कारण से दिखाई नहीं पड़ता था जानकारी नहीं होती थी इसकी इसलिए असर कह दिया इसलिए आदित्य की प्रशंसा किया जाता है इस बार असदैव देवगिरी आशित के द्वारा ये वाक्य क्या करता है आदित्य की प्रशंसा करता है तो क्यों ब्रह्म दृष्टि अर्थत्वाय आदित्य में ब्रह्म दृष्टि की योग्यता के लिए ब्रह्म दृष्टि की योग्य जब ब्रह्म रूप से उपासना करनी है तो ब्रह्म दृष्टि की योग्यता के लिए उसकी प्रशंसा करता है वाक्य कहा आदित्य निमित्त ही लोके सद यदि व्यवहार अस्थि करके जो व्यवहार होता है अमुक है अमुक है अमुक है प्रकाश के बिना हम बोल नहीं सकते कभी आदित्य का अधीन ऐसा है आदित्य निमित्त ही आदित्य के निमित्त ही लोक में सब यदि व्यवहार सब शब्द का प्रयोग आदित्य निमित्त से होता है जब प्रकाश मिलता है आदित्य का तब हम हाय बोलते हैं नहीं तो अंधेरे में क्या अधिक बासेगा ही क्या है बोलेंगे वहां आदित्य निमित्त वैसा व्यवहार जैसे यथा असदैवेदम राजकुलम सर्वगुण संपन्न पूर्ण परमणि में असती जैसे बोला जाता है ये राजकुल असत है राजकुल है राजकुल नाश नहीं हुआ किंतु तो बोल दिया जाता नहीं है राजकुल तब सर्वगुण संपन्न पूर्ण ब्रह्मण ही नहीं असती सारे गुणों से संपन्न पूर्ण ब्रह्म नाम के राजा नहीं है यदि वहां पूर्ण ब्रह्म नाम के राजा के अभाव में बोल दिया ये राजगुण है ही नहीं वैसे आदित्य के अभाव के कारण से जगत नहीं कहा असत कहा वास्तव में जगत नहीं है बात नहीं पूर्ण ब्रह्म नाम के राजा के न होने पर भी कुल कुल तो है अभी होते हुए भी असत का ही गया क्यों उसके बिना कुछ नहीं है इसी प्रकार यहां भी आदित्य के बिना जगत की सत्ता नहीं दिखाता आदित्य की प्रशंसा करेंगे ये कहना चाहते हैं यदा असदैव इदम राजकुलम सर्वगुण संपन्न पूर्ण ब्रह्मणी राजनी असती जैसे कहा ये राजगुण असत है नहीं के बराबर है नहीं है ये राजगुण किस स्थिति में तो पूर्ण गुण संपन्न राजा न होने उनके अभाव में ये नहीं है ऐसा बोला जाता है नहीं है माने नहीं है क्या है राजगुण है होता हुआ भी नहीं है का प्रयोग हो जाता है इसी प्रकार यहां भी असत शब्द अव्यक्त है आदित्य की स्तुति के लिए वाक्य है वास्तव में जगत की असत्ता सिद्ध नहीं होता ये कहा तरवत उसी प्रकार यहां है न सत्वम असत्वम व यह जगत प्रतिपादय प्रतिपादयीशवम यहां जगत की सत्व या असत्व जगत के प्रतिपादन करना इष्ट नहीं है जगत सत्य है कि असत विचार करना या इष्ट नहीं है इष्ट क्या है एक प्रसंग में कहते हैं आदित्य ब्रह्म इति आदेश परत्वाद आदित्य की स्तुति के लिए वाक्य है आदेश आदित्य ब्रह्म उपदेश परक वाक्य है यहां तो उपदेश है कि आदित्य ब्रह्म ही सिद्ध करता है <clears throat> जगत सत है या असत है उसके कोई प्रयोजन नहीं रखता यहाँ उपसंगर सती अंत आदित्यम ब्रह्म की उपास शुरू में भी यह आदित्य ब्रह्म उपदेश कहा है आदेश कहा है और अंतिम में चतुर्थ चतुर्थ मंत्र आएगा चतुर्थ मंत्र आएगा इसी में अंतिम में भी उपसंहार करेंगे आदित्यम ब्रह्म की पास पे ऐसा आएगा माने यहां पर क्या होगा उपक्रम उपसंहार को देखते हुए आदित्य के प्रशंसा परक वाक्य है ये सिद्ध होता है यहाँ जगत विषय वाक्य नहीं है तो इसका तात्पर्य आदित्य में है आदित्य के ब्रह्म दृष्टि की योग्यता के लिए उसकी स्तुति के लिए वाक्य है उपसंहार उपक्रम उपसंहार को लेकर के क्योंकि वेद का वेद के निर्णय करने के लिए छह होते हैं उपक्रम आदि यहाँ उपक्रम उपसंहार एक है आदित्य ब्रह्मेदि आदेश पहले आया और अंतिम में आएगा इस प्रकरण में आदित्य ब्रह्मित उपास चतुर्थ मंत्र में आएगा पहले भी आदित्य आया बाद में भी आदित्य तो आदित्य की स्थिति परक वाक्य है यह असदैव आशित वाक्य यह कहा कहना चाहते हैं समय हो गया है टीका से फिर देखेंगे ओम